और माने इस उपाय से और जहाँ माने जिस देश में और जे माने जिस अधिकारी ने प्राप्त किया कोई भी रहा हो उसको जानब सत्संग प्रभाव पर वो सत्संग का प्रभाव है बिना सत्संग के किसी को कुछ मिलता ही नहीं है लोग वेदनयान उपाऊ देखो जलकर को बुद्धि मिल गई ये बात रामायण में आई है प्रभु ही दिलोकत ही नारे मन हरक्षित सब भय सुखारे शंकर को कीर्ति की प्राप्ति हुई बोला मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाई है मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाई है नवतर जो है अबिरल भगति मांग पर गीत गयो हरिधाम गीत को भगवत धाम की प्राप्ति हुई परस चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी भगवान के चरणारविंद की धूल जिनको मिली वो जो अचर है ना घास पात ट्रेन पत्थर पहाड़ वो भी सुखी हो गए और परम पद के अधिकारी हो गए ये सब भय परम पद जोगू भरत दरस में क्यों भवर होगू भरत का दर्शन हुआ और गौरव मिल गया तो सत्संग की महिमा बड़ी भारी है बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभन सोई सत्संग मुद मंगल मूला कोई फल सिद्धि सब साधन फूला बिनु सत्संग विवेक न हो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता विवेक माने चीज को अलग अलग करके समझना जैसे हम दूध और पानी को अलग कर देता है ऐसे विवेक जो है वो अच्छा को और बुरा को और सत्य को और असत्य को धर्म को और अधर्म को अलग अलग कर देता है लेकिन ये विवेक की शक्ति सत्संग में ही मिलती है भाई सत्संग कैसे मिले तो सत्संग तो उसको मिलता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है राम कृपा बिनु सुलभन सोई दो ही हेतु रामचरित मानस में सत्संग के लिए बताया है तो एक तो सत्संग तब मिलता है जब आदमी पुण्यात्मा हो खूब पुण्य करे तो उसको सत्संग मिलेगा तो ये पुरुषार्थ का मार्ग हुआ स्वयं पदार्थ प्रभाव और दूसरा बताया कि राम की जब कृपा हो गए तब सत्संग बनता है अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है ये बात कैसे समझे तो ये बात ऐसी समझें कि अब सत्संग में हमारी रुचि हो रही है अब हमको सत्संग मिल रहा है सत्संग जिस दिन मिले समझना आज भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ गई बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है और ये जो सत्संगति है ये मुद मंगल मूला इसी में से दो बच्चे निकलते हैं मूल माने जड़ सत्संग जो है वो जड़ है तो किसकी जड़ है का तो बुद्ध मंगल हृदय में इससे आनंद आता है और जीवन में चारों ओर मंगल मंगल हो जाता है सत्संग करो विश्वास करो सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा बोले देखो साधन जितने हैं जब सब बड़े बड़े साधन हैं लेकिन ये तो फूल है बोला देखने में बड़ा मजा आता है कि भस्म लगा दिया चंदन लगा लिया है ना आनंद से और माला ले ली हाथ में और जब करते हैं तब करते हैं फूल की तरह खिल गए तो ये बाहरी चीज हुई बोला फल कब मिला कि जब सत्संग मिला तो फल है जब करने का फल है सत्संग तप करने का फल है सत्संग व्रत करने का फल है सत्संग सोई फल सिद्धि सब साधन फूला और सब साधन जो है वो तो फूल है और सत्संगति जो है वो फल है तो ये कहते हैं कि संसार में जितने साधन है सबका फल क्या है तो राम चरण की प्राप्ति और राम की प्राप्ति का फल क्या है बोले भरत की प्राप्ति तो भरत की प्राप्ति क्या है तो सत्संग है ना ते तो ही फल कर फल दरस तुम्हारा रामचंद्र के दर्शन का फल है भरत का दर्शन इसका अभिप्राय हुआ कि भगवान का भी दर्शन होने के बाद जीवन में क्या मिलेगा तो सत्संग ही मिलेगा सप सुधर ही सप संग पिताई पारस परस परसि सुधातु सुहाई विधिवत सुजन कुसंगति परही धन मनि सम निज गुण अनुसरही विधि हरिहर कवि को विदवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जातन कैसे साख बनिक मन गुण गन जैसे दंडो संत समान जित हित हित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सम सुमन जिमी सम सुगंध कर दो कहते हैं कि सत्संग मिलने पर सत से सत जो है उनका सुधार हो जाता है तो एक तो होते हैं मूरत और एक होते हैं सत तो जो मूरत होते हैं उनका भला करना तो बाबा हाँ, अशक्ति ही है मूरत हृदय में देख जो गुरु मिलई विरंज फूलई फलई न बेत जगत सुधा बरसई जलद बादल अगर अमृत की वर्षा करें तब भी बेत में न फल लगेगा न फूल लगेगा और महाराज जो मूर्ख हैं तो उनको तो ब्रह्मा के समान गुरु मिले तब भी उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है पूरा कर देना चाहिए लेकिन जो सत है महाराज वो सत सुधर है तो संगति पाएगी मतलब ये है कि जिसने अपनी मुट्ठी से दुनिया को पकड़ लिया है तो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे सफता माने एक प्रकार की कृपणता है वो जो इस जीवन में संसार की ओर से नजर हटा के थोड़ी देर के लिए ईश्वर को नहीं देखता है वो है तो बोले उनको यदि सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाएंगे भारत परसी उधात तो सुहाई यदि स्पर्श मणि का स्पर्श प्राप्त हो जाए पारस कहीं मिल जाए उस पर उसका स्पर्श मिल जाए तो कुधातु जो लोह है तो वो भी पारस हो जाए वो भी सोना हो जाता है जिस कुसंगति पर ही अब बोले कि भाई सज्जन पुरुष यदि कुसंग में पड़ जाए तो क्या होगा बोले कभी कभी ऐसा भाग्य का चक्कर आता है कि सज्जन पुरुष को भी कुसंग में रहना पड़ता है એટલે ખની મની સમની જે अनुसर जैसे मणि को फणी का संग मिलता है माने मणि है तो मणि परंतु वो सांप के सिर में जाके बस गया तो सांप तो बड़ा विषैला है जहरीला है वो दूसरों को काटता है तो पाप के संग से मणि में वो दोष आवेगा बोले ना ना मणि जहरीला कभी नहीं होगा वो विषैला नहीं होगा वो तो जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी देगा जहाँ देगा वहाँ कीमती रहेगा तो जैसे मणि फणी के सिर में रह के भी अपने गुण का ही अनुसरण करता है ऐसे सत्पुरुष दुष्टों के बीच में कुसंग में बढ़ के भी अपने सदगुण का ही अनुसरण करता है इसलिए बताते हैं कि विधि हरिहर कवि भी दुकानी कहत साधु महिमा सकुचानी ब्रह्मा की विष्णु की शिव की कवि की गोविंद की जो वाणी है मन जो वेद देखता है वो भी उसकी वाणी भी साधु की महिमा बोलने में संकोच करती है इतनी महिमा मैं भला क्या वर्णन करूं जैसे बड़े आदमी के सामने जाने में छोटे आदमी को संकोच होता है हम उनके पास कैसे जाए ऐसे संतों की महिमा इतनी बड़ी और ये दीदी हरिहर कवि गोविंद की जो वाणी है तो छोटी वो अनंत महिमा का वर्णन कैसे करे क्या मतलब है कि संत जो है ना वो तो सत है जो सत है उसी को संत कहते हैं असल में तो संत जो है वो सब सब दोनों से विलक्षण है इसीलिए स और स दोनों के बीच में नकार आई नहीं तो सत रहता ना सत स और स के बीच में नकार इसीलिए घुस गया है कि वो वो सत से भी परे है असत से परे सत है और सत से भी परे संत है तो उसकी महिमा का संत कोई वाणी कैसे करे तो मोशन कही जात कैसे जो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो मुझसे कही नहीं जाती है वर्णन नहीं की जाती है क्यों तो एक साग का बनिया हो और उसके हाथ में ला करके कोई हीरा रख दे और बोले भाई ये किस किस्म का हीरा है इसमें क्या क्या गुण है बताओ तो साग बनिक मणि गुण गण जैसे जैसे साग बेचने वाला बनिया फटिक साग का व्यापारी जैसे मणिगुण गण का वर्णन नहीं कर सकता इसी प्रकार हम संत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हम तो संत की वंदना करते हैं संतो संत समान चितो विषय सहित नहीं कोई संतो संतो हम संत की वंदना करते हैं तो महाराज संत की पहचान क्या है कि तो समान चितो उसका चित्त हमेशा समान है सबके लिए सबके लिए बराबर है हित या नहीं तो नहीं को उसके लिए आ, उसके लिए न कोई हित है और न कोई अनहित है शत्रु और मित्र दोनों उसके लिए नहीं है क्योंकि वो तत्व में स्थित है तो संत जो धरती है ना धरती चंदन चढ़ाने वाले और कूदने वाले सूखने वाले दोनों को अपनी गोद में रखती है ये तत्व तो है धरती तत्व तो है ये जल जो है का उसको चाहे कोई फेंक दे चाहे गंदा करे और चाहे पूजा करे दोनों को वो जिलाता है सूर्य सबको प्रकाश देता है वायु सबको सांस देती है आकाश सबको धारण करता है असल में जो तत्व होता है वो समान ही होता है क्योंकि आदमी आदमी तभी तक रहता है जब तक इसके अंदर विषमता रहती है हो ये अपना ये पराया ये अच्छा ये बुरा तब तक तो साधारण आदमी है और जब उसका चित्त सबके प्रति समान हो गया तो वो तत्व से एक हो गया यही तत्व से एकता है हिता नहीं तो नहीं कोई उसके लिए ये हमारा दोस्त है और ये दुश्मन है ये भेद नहीं है बोले दृष्टान्त तो दे करके बताते हैं गत सुख सुमन जिनी सम सुगंध कर दो अच्छा फूल हाथ में ले लो कमल ले लो गुलाब ले लो चंपा ले लो चमेली ले लो हाँ सुंदर जो फूल है हाँ, उनको अपने हाथ में ले लो तो क्या होगा तो दोनों हाथ को बराबर सुगंध देगा वो ये नहीं कहेगा कि ये दाहिना हाथ जो है ये तो पूजा करने के लिए है इसको ज्यादा सुगंध दो और ये बाया हाथ जो है कई आप दस्त लेने के लिए है तो इसको सुगंध मत दो फूल ऐसा काम नहीं करता वो तो दोनों को ही सुगंध देता है इसी प्रकार संत जो है दोनों हाथ के समान संसार के सब प्राणियों को मंगल कल्याण देता है संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव स्नेहू काल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहू आदि दैवी और आध्यात्मिक बाधाएं ना जो अपने तथा सबके लिए सर्वदा श्रेष्ठ मार्गदर्शन की विनम्र कृपा करें निष्कामता ही ऐसा अनुष्ठान कुछ चाहूंगा भजन में लगे रहे और अच्छा चाहो कुछ कोई बाधा नहीं है कोई चाहते कुछ तो उसके मिलने में बाधा पड़ जाती रोग की निवृत्ति चाहते तो बाधा पड़ जाती भोजन चाहते तो उसकी प्राप्ति में बाधा पड़ जाती जब कुछ चाहोगे तब बाधा बिघ्न पड़ेंगे निष्कामता ही असल में ऐसा अनुष्ठान है जिसमें कोई विघ्न बाधा कोई दुख दर्द कोई अशांति कोई संताप कुछ न चाहना कुछ न चाहना अब तो लो आप अपने आप को ध्यान माने हाथ में पानी लेके और आचमन करके कुछ मंत्र पढ़ लेना इसका नाम अनुष्ठान नहीं होता है सर्वमानव परमात्मा जो सबसे पीछे है और जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा है अनुस्थिति है जिसकी सृष्टि हो सृष्टि हो स्थिति हो स्थिति हो प्रलय हो प्रलय हो कुछ हो कुछ न हो वो ज्यो का क्यों वही निर्विघ्न अनुष्ठान वही निर्विघ्न अनुष्ठान है और कुछ चाहोगे उसकी प्राप्ति में भेद पड़ेगा कुछ मत चाहो देखो का अधिवेशन हो रहा था गांधी जी उस समय जगे थे उनका युग आरंभ हुआ था विष्णु दिगंबर अपना एक तारा लेकर खड़े हो गए और आंखों से निकलने लगा एकदम शांति हो गई बैठ गए राम राम राम राम राम सात बार इसमें भगवान का नाम है रामचंद्र का सात नाम है राम राम राम राम राम राम राम तुम कहो कि हमारे ऊपर रुपया बरस जाए एक बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाए मकान मिल जाए कुछ मांगोगे तब उसमें देर पड़ेगा और कुछ नहीं मांगोगे तो कोई देर नहीं पड़ेगा मांगने में विघ्न है निष्कामता में किसी प्रकार का विघ्न राष्ट्र प्रतिपत्ति शब्दार्थ वाक्य रचना अमोमा तन्मय उपदेशादय बाजो वाचारम्भम विकारो नामदेव इत्यादि भी है तो भगवान कृपया बताइए कब तक शब्द अर्थ और वाक्य रचना के भ्रम का अनुसरण करना चाहिए स्वास्थ्य वाक्यार्थ विचार होना चाहिए अथवा विचार ये व्यवहार है और निष्ठा स्थिति है इसलिए व्यवहार पक्ष में आने पर ये विचार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि विचार में दृश्य या दृष्ट का अवलंबन है परंतु परामर्श में स्थिति ही अपेक्षित है कृपया इसको स्पष्ट अपनी अद्वितीयता का बोध नहीं हुआ है तभी तक वाक्य और वाक्यार्थ के विचार की आवश्यकता है वाक्य माने तत्वसी आदि और वाक्यार्थ माने उनकी एकता का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विचार जब तक अपनी पूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णतम अद्वितीयता का बोध नहीं हुआ है तभी तक वाचारम्भम विकारो नाम गया ध्यानाध्यायात बहून शब्दांची ये सब तो ढकोसरे बाजी है नाना प्रकार के पंथ बनाना नाना प्रकार के चिन्ह बनाना माला लेकर झगड़ा करना कि तुलसी के रुद्राक्ष चंदन लेकर झगड़ा करना कि नाक तक भाव तक सारी बातें हैं ये पीला और गिरुआ और काला और सफेद ये सब फालतू बात है भगवान का नाम लेकर आंख बंद कर दो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है आप खुली रहे चाहे बंद रहे ज्यो के त्यों यही सर्वोत्तम स्थिति है तो सब कमाई के ढंग हैं सब कानून की वकालत करते थे अब किताबों की वकालत करते हैं हम मवक्किल हुआ करते थे पंथ और उनके आचार हुआ करते थे मात्र परमात्मा करें को छोड़ दो इससे बढ़िया अनुष्ठान इससे बढ़िया स्थिति और कुछ पांच पांच मिनट छोड़ दें का अभ्यास करो five distance कोई दुनिया की कोई बात मन में ना आवे पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट देखो पूर्णता अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति हो जाती है पसंद नहीं करते हैं ईश्वर की इच्छा पसंद नहीं करते हैं अपनी इच्छा से ईश्वर से करवाना पसंद करते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा तुम करो तुम जैसा चाहते हो वैसा हम नहीं करेंगे हे भगवान इतनी गर्मी न पड़े इतनी सर्दी न पड़े भगवान को सुझाव देने में ही लोग लगे रहते हैं मारे भगवान इतने बेवकूफ है कि वो कहीं बुद्धि से नहीं सोच सकते हैं जब तुम सुझाव दे दोगे तब वो काम करेंगे करेगा उसका पूरा का पूरा व्यवहार ही भजन होगा उसका हंसना डल डोलना बोलना खाना पीना पहनना सोना जो कुछ करेगा वो सब भजन ही करेगा कहो भगति पद कवन है जोगन जप तप न उपवासा सरल स्वभाव से जीवन व्यतीत करना लड़ाई करके सेवा करता था और सबरी रास्ते में झाड़ू लगाकर सेवा करते अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सेवा की जाती है और जैसी सेवा चाहे कर सकते हैं सच्ची जिज्ञा से कैसे भगवान के लिए तरफ का उदय कैसे हो उसे मार्गदर्शन देने का आपको जो असत्य मालूम पड़ता है उसको छोड़ दीजिए यदि आप सत्य का साक्षात्कार चाहते हैं की ही दृष्टि है आपकी ही नजर में जो असत्य है उसको छोड़ दीजिए वो बात मत बोलिए जो आपको झूठ लगती है वो काम मत कीजिए जो आपको झूठा लगता है खाना मत खाइए जो आपको बेईमानी का लगता है नारायण स्वामी से ठाट वाले अभी हम लोगों के सामने थे भी टाटे पहन से टाट की लंगोटी जरे गंगा किनारे की तरफ घूमते थे अगर कोई किसी से दिया सलाई एक चिल्ली ले तो कहते थे तिल्ली के बदले में इसको तिल्ली दो इससे आफत की चिल्ली तुमने क्यों ली सुरती खाने वाले ये तमाकू खाने वाले लोग जो थे जिसको देखेंगे तमाकू खाते हुए हाथ फैला देंगे तमाकू पीने वाले जितना ध्यान रखेंगे उतने सत्य के साक्षात्कार सुगमता होगी आपने तो नारायण स्वामी को दर्शन छूट किया सत्संग भी किया दर्शन सत्संग किया दर्शन बड़े कट्टर that community. एक एक सौ बीस एक सौ बीस घंटे में ऐसे पूरे रामचरित मानस का पाठ कर गया था be able to take yourself निष्कामता और कर्तव्य पालन का निर्वाह एक साथ किस प्रकार हो सकता है ये समझाने की कृपा दोनों में विरोध क्या है पालन तो मुस्कान ही होता है कामना ही गड़बड़ है असल में हम लोग किसी चीज को अपना कर्तव्य मान बैठते हैं कर्तव्य का अगर ठीक ठीक पालन किया जाए तो उसमें सकाम होने का कोई कारण नहीं है तक धर्म को संस्कृति में जन्म के साथ जोड़ दिया गया था और वो था संध्या वंदन प्रातः काल सूर्योदय के समय खड़ा होकर है देना ये अर्घ देना जो है ये प्रकाश का आदर है न करे तो कोई हानि नहीं है किंतु तो करें तो उससे कोई लाभ भी नहीं है जीवन के लिए एक निष्काम कर्तव्य के रूप में प्रकाश का आदर ज्ञान के आदर की सहज शिक्षा है बिना स्कूल के बिना उस कुल के बिना विद्यालय महाविद्यालय के जीवन में ये बात भर दी जाती है कि रोज प्रातः काल प्रकाश स्वरूप सूर्य का ज्ञान का आदर हमें करना चाहिए अब इसमें जीवन के लिए कितनी चीजें आ गई तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना सूर्य को नमस्कार करना पालसी न होना ज्ञानी का और ज्ञान का आदर करना ये देखने में तो छोटा सा काम है परंतु कितना निष्काम है और कितना कल्याणकारी है ये विचार करने पर मालूम पड़ता है असल में कर्तव्य तो वही है जो निष्काम हो तनख्वाह पाने के लिए वेतन पाने के लिए भी जो कर्म होता है वो भी निष्काम होता है निश्चित हो गया कि स्वामी की सेवा करके कितना लेना है सत्याग्रह भी निष्काम कर्म है देश की सेवा समाज की सेवा जाति की सेवा परिवार की सेवा अपनी शक्ति का लोक कल्याण के लिए सदुपयोग ये तो कर्तव्य का पालन भी है और साथ ही साथ निष्कामता भी है जब हम अपने निश्चित ध्येय से जो हमें देना चाहिए उससे और निश्चित आदेश से जो हमें निश्चित रूप से लेना चाहिए उससे आगे पीछे हो जाते हैं हमारा कदम जब घट बढ़ जाता है काम हो जाते हैं और कामना में कहीं मर्यादा नहीं बनती जितना जितना कामना बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी विष्णु पुराण का तुमको जाए थे नहीं तदेव दुख भी वृक्ष से बीजत्व उपगछति जितनी जितनी कामना अपने मन में बढ़ती है उतने उतना दुख का अंकुर बड़ा वृक्ष बनता है यद्यत प्रीतिकरम वस्तु यद्यत प्रीतिकरम पुंसाम वस्तु वही जाए थे तदेव दुख से वृक्षस्य बीजत्व उपगछति जितना जितना कामना बढ़ेगी मन में उसको पाने के लिए उतनी उतनी इच्छा और बेमार्ग का प्रयत्न जब हम कुमार्ग से चलने लगते हैं तब हमारा जीवन मर्यादा से च्युत हो जाता है